कुछ सुनता और जानता है कहो अल्लाह को छोड़कर क्या मैं किसी और को अपना सरपरस्त बना लू उस अल्लाह को छोड़कर जो जमीन और आसमान का पैदा करने वाला है और जो रोजी देता है रोजी लेता नहीं है कहो मुझे तो यही आदेश दिया गया है कि सबसे पहले मैं उसके आगे आज्ञा पालन की भावना से झुक जाऊं और ताकीद की गई है कि कोई ईश्वर का साझीदार बनाता है तो बनाए तू किसी हाल में मुशरिकों यानी बहुदेव वादियों में शामिल ना हो कहो अगर मैं अपने रब की नाफरमानी करूं तो डरता हूं कि एक बड़े भयानक दिन मुझे सजा भुगतनी पड़ेगी उस दिन जो सजा से बच गया उस पर अल्लाह ने बड़ी ही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 गवाह है और ये कुरान मेरी ओर वही यानी प्रकाशना के द्वारा भेजा गया है ताकि तुम्हें और जिस जिस को ये पहुंचे सबको सावधान कर दूं क्या वास्तव में तुम लोग ये गवाही दे सकते हो कि अल्लाह के साथ दूसरे पूज्य भी हैं कहो मैं तो इसकी गवाही हर गिज नहीं दे सकता कहो ईश्वर तो वही एक है और मैं उस शिरक यानी बहुदेववाद से बिल्कुल बेजार हूं जिसमें तुम पड़े हो जिन लोगों को हमने किताब दी है वे इस बात को इस तरह असंदिग्ध रूप से पहचानते हैं जैसे उनको अपने बेटों के पहचानने में कोई संदेह नहीं होता मगर जिन्होंने अपने आप को खुद घाटे में डाल दिया है वे इसे नहीं मानते